अरे कहा गया तो मैं कहता मैं नीचे बहुत बढ़िया सो रहा हूँ हाँ। आज हमको बंबई में एक पत्नी ने शिकायत की कि हमारे पतिदेव जब रात में जागते हैं तो रोशनी जला के पलंग की रोशनी जला के देखते हैं कि मैं पलंग पर हूं कि नहीं उनको ये शंका रहती है कि उठ के चले तो असल में आनंद जो इंद्रियों का आश्रय है उसमें है मन का आश्रय है उसमें हमारी बुद्धि का आश्रय है उसमें है जो जागृत सुसुप्ति स्वप्न का आश्रय है उसमें आनंद है वो स्वप्न का अधिष्ठान जो है वही सर्वाश्रय है बस उसको मत छोड़ना किसी को देखो किसी को सुनो किसी को बोलो उस आश्रय दृष्टि को अच्छा अच्छा अब एक कथा सुना देते कथा ये है कि बामन भगवान ने बलि से सब कुछ ले लिया नाप लिया उनका लोक नाप लिया परलोक नाप लिया और तीसरे पांव से बलि के अहम को भी नापते ले दिया और इंद्र को दे दिया स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया बलि का लोक परलोक इंद्र को दे दिया अब इंद्र ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और मेरा तुमने बहुत उपकार किया हाँ अब तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलो और वहां आराम करो उपेंद्र होकर जाओ तो जब बामन जी चलने को तैयार हुए स्वर्ग में तो उनका पावन न उठे फंस गए हो बामन भगवान फंस गए अब तो ऋषियों की पंचायत हुई तो इंद्र को तो मिल गया स्वर्ग का राज्य और बामन भगवान स्वयं भगवान भगवान बनकर तो उन्होंने कुछ किया जो कुछ किया तो इंद्र का भाई बनते किया और मांगने में लेने में छोटा तो होने पड़ा ईश्वर भी अगर मन का बन जाए तो उसको पौना बनना पड़ता है छोटा बनना पड़ता है तो इंद्र के भाई बन के उन्होंने यह न्याय किया था पक्षपात किया था कि बलि का राज्य छीन कर इंद्र को दे दिया जाए अब महाराज बामन जी धरती पर चले तो चले धरती पर चले तो चले स्वर्ग में जाने के लिए तो उनके पांव उठे नहीं तो फिर सब महात्मा लोग इकट्ठे हुए बड़े बड़े भाव ब्रह्मा जी आए तो बावन के पांव क्यों नहीं उठ रहे हैं बोले इन्होंने आसुर संपदा ग्रहण की है असुरों की संपत्ति इन्होंने कान में ली है वो संकल्प संकल्प लिया है संकल्प हो बाद में जल कुछ अक्षत लेकर के पहले तो भगवान ब्राह्मण बने बौना बने ब्रह्मचारी बने बहुत बनावट थी और कपट पूर्वक इन्होंने डाल लिया है तो आसुरी संपदा आमन जी के हाथ में आ गई इसलिए इनकी जो गति है वो अवरुद्ध हो गई ब्रह्मा जी ने कहा महात्माओं ने कहा एक राज शक्ति तो ये हुआ कि अब सब देवता लोग इकट्ठे हों और बावन जी के साथ तीर्थ यात्रा करें देखो हम चुटकुला नहीं सुना रहे हैं आपको बोला पुराण की कहानी हाँ, हाँ ये प्राचीन कथा है गढ़ गढ़ की कहानी गढ़ गढ़ चुटकुला नहीं तो सब देवता बामन जी के साथ तीर्थ यात्रा करें हाँ, फिर धीरे धीरे इनका आशुर्भाव जब क्षीण होगा तब ये स्वर्ग में जा सकेंगे यात्रा शुरू हुई महाराज तीर्थ यात्रा पुष्कर क्षेत्र में गए सब लोगों ने स्नान किया स्नान करके बाहर निकले तो एक स्वर्णमय कमल बाहर रखा हुआ था सोने का कमल तो इंद्र ने उस कमल को उठा लिया और उठा के रख दिया थोड़ी देर के बाद अगस्त ऋषि स्नान करके आए उन्होंने कहा हमारा यहाँ सोने का कमल रखा हुआ था किसने उठा लिया अब एक एक से एक एक से एक एक से पूछ पूछ परख हुई तो इंद्र ने कहा कि जिसने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं हाँ जो स्वर्ग का अधिपति है जो देवताओं का राजा है ऐसे किसी व्यक्ति ने वो कमल लिया होगा तो सब लोग समझ गए इंद्र ने दिया है अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए बोले भाई तुम बड़े ईमानदार हो और तुमने बता दिया कि कमल लिया है तो लौटा दिया कमल ले लिया फिर फिर अगस्त जी ने कहा और तीर्थ यात्रा तो जब और तीर्थ यात्रा करने के लिए चले तो रास्ते में एक सूखा पेड़ मिला बिल्कुल सूखा उसपे पत्ते नहीं थे फूल नहीं फल नहीं उसमें खोडर थे और उस पर एक तोता रहता था दूसरा प्यासा रहता था बेचारा दुबला हो गया था और उस पेड़ को छोड़ के कहीं नहीं जाता तो इंद्र ने उसको देखा कहा भाई तो ये पेड़ सूख गया है ये क्या है बोले ये कल्प वृक्ष है महाराज पहले का हाँ, किसी समय में यही कल्प वृक्ष था और मैं इस पर रहता था इसने हमको फल दिया फूल दिया पत्ता दिया छाया दिया रहने की जगह दी परंतु देते देते देते इसने अपने पास कुछ नहीं रखा सूख गया भला काम करते करते सूख तो मैंने कहा कि ये हमारा मित्र है हमारा आश्रय है दुर्दिन में भी जब सुदिन में हम इसके पास रहे हैं इसका फल खाया है फूल लिया है पत्ता लिया है सुगंध लिया है इसका आश्रय लिया है तो इसके दुर्दिन में इसको छोड़ के जाना उचित नहीं है अब भले मैं मर जाऊंगा तो इसी पर मरूंगा क्योंकि आश्रय का जो परित्याग है वो बड़ा भारी पाप है और बहुत दुखदायी है इंद्र ने कहा कि तुम चलो हमारे साथ हम तुमको स्वर्ग में और नया नया कल्प वृक्ष वहां तो कल्प वृक्ष का बगीचा है वहां तो चिंतामणि चुगना तुम कल्प वृक्ष पर रहना कामधेनु का दूध पीना हाँ, हम तुमको अपने हाथ पर बैठावेंगे हम बैठेंगे सिंहासन पर तुमको बैठावेंगे अपने हाथ पर तुम इतने आश्रय निष्ठ हो उसने कहा देखो चाहे कल्प वृक्ष मिले चिंतामणि मिले चाहे हमको कामधेनु मिले चाहे तुम अपने हाथ पर बैठाओ हम अपने आश्रय वृक्ष को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं अब तो इंद्र बड़े प्रसन्न उधर अगस्त ने देखा कि इंद्र बड़े धर्मनिष्ठ हैं और इधर इंद्र ने देखा कि ये तोता ये पोपट ये शुक शुक बड़ा धर्मनिष्ठ है बोले कि तुम्हारी इस आश्रय निष्ठा से सुख हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए तुम बरदान मांगे को दे दिया तो उसने कहा कि यही वरदान दो हमको कि ये वृक्ष जिस पर मैं रहता हूँ ये फिर से हरा भरा हो जाए इसमें पत्ते हो जाए इसमें फूल हो जाए हर हो जाए जैसे ये कल्प वृक्ष पहले सबको सत्ता स्फूर्ति देता था वैसे ये सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला हो जाए इंद्र ने कहा एवं बस महाराज उस तोते के दर्शन से उस वृक्ष के दर्शन से ऐसा पुण्य उत्पन्न हुआ कि बामन भगवान के स्वर्ग जाने में जो प्रतिबंध था वो सर्वथा निवृत्त हो गया और बस का चलो स्वर्ग में तो ये हम लोग जो हमारी इंद्रियों का आश्रय है वो इंद्रियां किसके साथ बंधी हुई हैं जाने के साथ शेष अंतर्जामी आत्मा अमृता वैष्णव लोग बोलते हैं ये अंतर्जामी के साथ बनी हुई हैं इंद्रियां भी प्राण भी देखो सांस बाहर निकलती है फिर वहीं आते हैं मन बाहर जाता है फिर वहीं आता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है वहीं की वहीं इंद्रियां बाहर जाती हैं वहीं की वहीं तो ये आश्रया परित्याग रूप जो धर्म है ना परम कर्तव्य की आश्रय की शरण वास्तव में वस्तुतः जिसकी शर, जिसकी शरण में तुम हो जो तुम्हारी शरण है तुम्हारे जीवन का शरण है तो हाथ नहीं निकले थे तो कौन था पाँव नहीं निकला था तो कौन था ये मुंड नहीं निकला था तो कौन था है? ये शरीर नहीं बना था इंद्रियां नहीं बनी थी तो कौन है उसी के आश्रय से ये सारी सृष्टि जो है ये बनी है हम एकम शरणम प्रगम वो परमात्मा है वो प्रभु है वो हमारे हृदय की जड़ में रहना वो सन्मय है चिन्मय है आनंदमय है ये अद्वय है विज्ञानमय है शिवा अद्वैता तुरिया उसको छोड़ करके जो हम बाहर जाते हैं तो हम हो जाते हैं धर्मग्राही धर्मी का परित्याग कर देते हैं धर्मी होता धर्मी अभी होता धर्मी का परित्याग करके हम हो जाते हैं धर्मग्राही फूल का जो पेड़ था उसको तो उखाड़ के फेंक दिया और फूल लेके सूंघने लगे तो फूल कब तक चलेगा फूल भी सूख जाएगा जब जड़ सूख जाती है तो सब टूट जाता है जब परमात्मा छूट जाता है तो सब छूट जाता है माम एकम शरणम ब्रज मैं एक हूं तुम्हारा माम हूं तुम्हारा माम माम अहमा अहम पद गर्म अहम पद का कर्म हूं मैं अद्वितीय हूं मैं अहम पदोपलक्षित अहम पदार्थाधिष्ठा अहम पदार्थ प्रकाशक मां मैं हूं मैं हूं मैं एक हूं अद्वितीय हूं और शरण मुझे पहचान कैसे पैसा है क्या इधर उधर की जो पकड़ है ना जड़ को छोड़ के डाली पकड़ कर तो सर्वधर्मान परित्यज्य सब डालियों की पकड़ छोड़ करके मैं जो मूलभूत सर्वाश्रय सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाशन स्वप्रकाश सर्वावभाषक जो मैं हूं अधिष्ठान शरण उसको जान लो तो तब तब तुम देखोगे कि आप जो तुम हो सो मैं जो मैं हूं सो तुम आप न हन्यते जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती न हंती जो कभी किसी को नहीं मारता न हंती न निबद्ध वो अहम न जहाती रहियते न वो कभी किसी को छोड़ता है और न छोड़ छोड़ा जाता है अ से लेकर के तक और अकार से अ आ ई से लेकर के और ह पर्यंत जितनी ही वर्णमाला है उनसे जो पद समुदाय बनता है उनसे जो वाक्य समूह बनते हैं उन सबका जो अर्थ है उसका नाम है अहम अकारादि हकारांतम अशेषाकार संस्थित अजस्त्र मुच्चरतम स्व आत्मान समुपास्मये मेक शरण व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मेक शरण व्रज रोज भक्तों की रीति चरण करता था वेदांतियों के लिए विशेष कार्य किया संपूर्ण इंद्रियों का धर्म मन का धर्म बुद्धि का धर्म अवस्था का धर्म अहंकार का धर्म किसी के साथ मौसम अहम मत जोड़ो ये मैं हूँ ये मेरा है ऐसा मत जोड़ो ये सच है कहिए भी सत्य है कहीं भी नहीं माम एकम शरणम व्रज सर्वाधिष्ठान हाँ हाँ हाँ स्वप्रकाश सर्वाभाषक अहम पदार्थ से उपलक्षित जो वस्तु है उसकी शरण में आओ फिर तो तुम्हारे अहम के रूप में ही परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार होगा अविद्या और अविद्या के सारे कार्य छूट जाएंगे और तुम्हारे जीवन में पुण्यात्मा लोग मरने के बाद की फिक्र करते हैं और भक्त लोग वैकुंठ में रहने वाले भगवान का स्मरण चिंतन करते हैं निराकारी लोग निराकार की प्रार्थना करते हैं नमाज पढ़ते हैं प्रेयर करते हैं तो वो मरने के बाद नहीं दूर नहीं दूसरा नहीं देर नहीं उसके मिलने में दूर नहीं वो दूसरा है अमाम एकम शरणम ब्रज आंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामी मां सोचा छोड़ो सो छोड़ो मो शोक तत्र को हुआ का शोका एकत्व तो मन पश्य अच्छा भाई अब कल दृश्य ये शांति पाठ श्रोता कर रहा हो इसका मतलब ये हो क्योंकि अपने को तो माम बोलता है और भक्ता को अलग बोलता है वो मेरी रक्षा करे भक्ता की रक्षा करे अवतु माम अवतु भक्ता एक प्रार्थना दोनों जिह्वा में मधुमत तमाम शरणाभ्याम भूरि विश्रवम हमारी जीव मधुर से भी मधुरा से मधुर हो गए जिहवा में मधुमत्तमा अत्यंत अत्यंत मधुमती हो गए मेरी जिहवा जीप पर मिठास की मधुरता की निधि तो जाना और करणाभ्याम भूरी कानों से खूब खूब सुना जिहबा मीठी हो और कानों से खूब सुना अब आपको सर्वधर्मा परिचर्य की कुछ बात एक है तपस्या और एक है भक्ति और एक है शुश्रूषा और एक है अनभ्य सूर्या भगवान ने यहां शरणागति को तीनों से निराला बताया तपस्या आपको प्राप्त है आप तपस्वी हैं परंतु शरणागत नहीं भी हो सकते बड़े भारी तपस्वी हैं सदगुण है आप में विवेकी हैं वैराग्यवान हैं सदाचारी हैं विद्वान हैं और संयम करते हैं वो आसन का संयम है प्राण का संयम है इंद्रिय का संयम है मन का संयम है बड़ी तपस्या से जीवन व्यतीत करते हैं बहुत बढ़िया है परंतु इतने तपस्वी होने पर भी आप शरणागत हो ये आवश्यक नहीं है अच्छा बड़े भक्त हैं खूब पूजा करते हैं पाठ करते हैं प्रवचन सुनते हैं माला फेरते हैं पूजा करते हैं ध्यान धारणा करते हैं बोले कि शरणागत है या नहीं शरणागति दूसरी वस्तु होती है कक्षा एक आदमी बहुत शुश्रूषु है शुश्रूषु शब्द का संस्कृत में दो अर्थ होता है एक तो सेवा करने का इच्छुक और एक सुनने का इच्छुक हम इच्छु शुश्रूषु एक आदमी खूब खूब सुनना चाहता है बस कोई न कोई सुनाता नहीं सबकी सुनते हैं सब समय सुनते हैं सुनना ही चाहते हैं और खूब सेवा करते हैं परंतु शरणागत हो ये आवश्यक नहीं ये आपको सर्वधर्मान परित्यज्य का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए क्योंकि ये जो शरणागति का उपदेश है ये किसको करना बोले तपस्वी को करना भक्त को करना शुश्रूषु को करना इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्य न च माम योग्य सूयती ज इदम परमम गुह्यम मदभक्ते स्वविधास्यति इसका उपदेश किसको करना कि मेरे भक्तों को करना तो भक्त तो हो गया अधिकारी और भक्त को शरणागति का उपदेश किया जा रहा है इसका अर्थ है कि भक्त अभी शरणागति नहीं है शरणागत नहीं है तपस्वी शरणागत नहीं है सुश्रूषु शरणागत नहीं है शरणागति धर्म तपस्या से विलक्षण भक्ति से विलक्षण शुश्रूषा से जिज्ञासा से भी विलक्षण ये अद्भुत है शरणागति क्योंकि जब तपस्वी हो लोगे भक्त हो लोगे शुश्रूषु हो लोगे तब तुम्हें शरणागति का उपदेश प्राप्त होगा जो संजमी हो भक्त हो श्रवण का इच्छुक हो कि हम शरणागति का रहस्य सुनेंगे उसको बताना एक बात इसमें है टुप से भगवान ने और डाल दी है न तमाम योग्य सूयति जो मेरे गुणों में दोष निकालता है उसको भी ये शरणागति का उपदेश मत करना अब आपको बात करते तो ये जो तपस्वी लोग होते हैं ये अहम निष्ठ होते हैं मेरे समान तपस्वी और कौन है उनको मैं का तो बल होता है अपनी तपस्या का बल होता है और हाँ, उसके सामने किसी को कुछ गिनते ही नहीं है आपने सुना होगा ना महाभारत में कथा है दूसरे पुराणों में भी है एक ने बड़ी सारी तपस्या की तपस्या की महाराज को तपस्या सिद्ध हो गई सिद्ध हो गई तो बैठ के सज्जन तपस्या कर रहे थे उनके जो बाल बढ़े ना जटा बढ़ी उसमें आके एक चिड़िया ने अपना घोसला बना लिया है घोसला बना लिया उसमें अंडे दे दिए अब जब महात्मा जी को मालूम पड़ा कि हमारे जटा में तो चिड़िया ने अंडा दिया है तो भाई सिर हिलने न पावे नहीं तो अंडे बेचारे फूट जाएंगे मर जाएंगे संभाल के हो जब तक वो अंडे फूट के चिड़िया नहीं बन गए तब तक उन्होंने अपनी जटा को बिल्कुल संभाल के रखा एक तरीके अब भला इतना बड़ा तपस्वी कौन होगा एक दिन उन्होंने देखा एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उनके शरीर पर पीट कर दिया पीट करती हुई उड़ जब उड़ने लगी तब उन्होंने आग टेढ़ी करके उसको देखा अरे मेरे ऊपर पीट कर दी तो वो पट से गिर गई हो चिड़िया और मर गई अरे हो मेरे जैसा सिद्ध और कौन अपनी तपस्या अपनी तपस्या फिर तो वो गए महाराज भिक्षा के लिए किसी के घर में तो स्त्री धान कूट रहे थे तो उनका भिक्षा दे स्त्री बोले कि चलो मैं धान कूट रही हूँ अपने पति के लिए चावल निकाल रही हूँ इसका भात बना के खिलाना है आप जरा ख्याल जाओ वो तो महाराज क्रोध आ गया बाबा जी लोगों को तपस्वी होता है ना तो क्रोध बहुत जल्दी आता है कुछ गर्मी भी ज्यादा होती है और कुछ अभिमान भी ज्यादा होता है अब उन्होंने कहा तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ मैं चाहूं तो अभी शासन करता हूँ वो बोले कि मैं चिड़िया नहीं हूँ मैं पतिव्रता हूँ और अपने मूसर को उसने ऊपर जैसे उठाया था वैसे ही आसमान में रोक दिया अच्छा बोली ठहरो लाते हैं तो अब मूसर को आसमान में खड़ा देख के तो बाबा जी घबराए बोले कि इतनी सिद्धि शक्ति तो हमारे अंदर भी नहीं है हैं? ले आई भिक्षा बोले बताओ तुमको ये सिद्धि कैसे मिली कि मूसल को तुमने आसमान में खड़ा कर दिया बोले ये हमारे धर्म की सिद्धि है हाँ, हाँ। तो बोले भाई तुम धर्म का उपदेश करो हमको बोले धर्म का उपदेश हम नहीं करेंगे तो तुम व्यास के पास जाओ धर्म व्यास मांस का व्यापार करते हैं वो दुकान पर बैठते हैं और जो कोई खरीदता है उसको मांस देते हैं बेचते हैं और पीछे इतना बड़ा तपस्वी सदाचारी धर्मात्मा विद्वान बोले अच्छा हमको की जिज्ञासा है चाहना है तो हम जाएंगे उनके पास अब महाराज गए तो पहले जितने ग्राहक उनके पास थे सबको निपटाया तो खड़े रहे बाबा जी हाँ बोले कि क्या चाहिए महाराज बोले हमको धर्म का रहस्य बताना उदाहरण का रहस्य क्या है कि यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पापकम ये धर्म का रहस्य है बड़ा भारी ये बृहद विष्णु पुराण है बृहद वैष्णव पुराण है यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु पातकम कर्मणा मनसा वाचा स्वधर्मम वेद जाजले ये जाजली उपाख्यान देखो जो किसी के बारे में सर्वभूतेषु बिच्छू सांप तक संसार के किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भाव नहीं करता है पेड़ पौधे के प्रति भी दुर्भाव नहीं पशु पक्षी के प्रति भी दुर्भाव नहीं दैत्य देवता के प्रति दुर्भाव नहीं सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे हैं कर्म से दुर्भाव नहीं मन से दुर्भाव नहीं वाणी से दुर्भाव स्वधर्मम वेद तो जाजली उपाख्यान है धर्म का रहस्य हो जाना तो तपस्या जो है वो अहम निष्ठ होती है और अहम को कभी कभी बढ़ा देते हैं देखो वो प्याज के पास जो धर्म की शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ा ना वो अहम भाव को तोड़ने के लिए कि हम ब्राह्मण हैं विद्वान हैं सदाचारी हैं तपस्वी हैं इस अहम भाव को तोड़ने के लिए उनको व्यास के पास भेजा गया धर्म सीखने के लिए तो तपस्या से शरणागति एक अलग विलक्षण और ज्योतिर्मय वस्तु है अच्छा भक्ति तो भक्ति उभय निष्ठ होती है तपस्या केवल तपस्वी को बड़ा बनाती है और भक्ति जिसके हृदय में होती है उसको भी और जिसके बारे में होती है उसको भी ये उभय निष्ठ है जीव के हृदय में रहती है और ईश्वर के विषय में होती है भक्ति का आश्रय है जीव और विषय है परमेश्वर तो बोले कि भाई मेरा भक्त हो तब तो शरणागति बताना और मेरा भक्त न हो तो शरणागति मत बताना इसका अर्थ है कि भक्ति तो पहले मिल चुकी है लेकिन शरणागति नहीं मिले है ना तपस्कायो ना भक्ताय कदाचनो नचा जिज्ञासा पैदा हो चुकी है परंतु शरणागति नहीं है नचमान जो भी सूयती भक्त तो बहुत होते हैं महाराज कोई तकलीफ पड़ती है यही की बात है किसी के घर में मैं कह रहा हूं हाँ, जहां उनकी दुकान थी आग लगी दुकान के पड़ोस में लगी पड़ी मैं उन्हीं के घर में ठहरा आग ही थोड़ा महाराज आग लग गई आग लग गई हमारा तो सब कुछ उसी में है मैंने कहा बीमा वीमा कराया है तो बोले कि नहीं महाराज अभी तो दुकान खोली है अपने पास जो कुछ था उसमें सब लगा दिया अभी तक बीमा नहीं कराया है आज फिर हो ये दुकान को तो महाराज हमको तो कहे कि वो गए हमारे ऊपर श्रद्धा होगी तभी कहा होगा तो बचाओ महाराज रक्षा करो भगवान मैं उनके घर में था उन्हीं का खाता था उन्हीं का पीता था उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था तो हमको तो फिक्र हो गई कि हम इसके घर में ठहरे कहीं बेचारे की दुकान में जल जाए हमारे प्रति भक्ति थी उनकी इसमें कोई समय नहीं अब महाराज रात सारी बीत गई दूसरे दिन आठ नौ बजे वे लोग नाश्ता करके अपने व्यापार में लग गए तब मैंने फिर पूछा कि वो रात जो आग लगी थी उसका क्या हुआ तो मालूम पड़ा कि आग तो उनकी दुकान तक पहुंचने से पहले ही बुझा दी गई थी उनका कोई नुकसान बड़ी खुशी हुई लेकिन हमको चिंता डाल के तो गए वो हमारे दिल में चिंता डाल के तो गए पर उसको मिटाने की फिक्र उनको नहीं रही है बात पुरानी है लेकिन श्रद्धा और भक्ति में यही फर्क है ना श्रद्धा भक्ति और शरणागति शरणागति बिल्कुल दूसरी चीज है नका शुश्रूषवे बात प्यास लगी हो तो पानी पिलाओ जबरदस्ती शिष्टाचार से मत पिलाओ तब भक्ति से भी बड़ी सेवा होती है और भक्ति से भी बड़ी शुश्रूषा होती है वो क्या है कि जैसे किसी की हम भक्ति करते हैं तो उसके बारे में उसको खाना क्या अच्छा लगता है उसको पहनना क्या अच्छा लगता है सोना क्या अच्छा लगता है उसको क्या पसंद है आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि नहीं अब महाराज कितने घरों में ऐसा होता है बड़े आग्रह से बड़े आग्रह से प्रेम से बुलाते हैं हाँ। और ये तो पूछते ही नहीं है कि क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ओ तो महाराज वो जोधपुर की कटोरी शक्कर से भरी हुई महाराज बड़ी मीठी मलाई जिसमें भरी जाती है वो ला के सामने रख दिया है वो लड्डू वो हलवा वो पूरी आ, हाँ, वो तो हमको पचता ही नहीं है है? तो देखो भक्ति तो है ये मानना पड़ेगा कि उनके हृदय में भक्ति है तभी तो खिलाना पिलाना चाहते हैं परंतु सेवा सेवा तो भक्ति से बड़ी होती है उसमें अपने सेव्य की पसंद को पहचानना पड़ता है उसको कौन आदमी पसंद है उसको कौन काम पसंद है उसको कैसी रहनी पसंद है हाँ, यदि उसकी पसंद की रहनी नहीं होगी तो सेवा कहाँ से होगी हाँ, तो सेवा दूसरी चीज होती है जो सेवक हो वो उसको शरणागति का उपदेश करता है मैंने हम तपस्या इतने इतने अनुष्ठान मैंने गायत्री के किए हैं महाराज और इतनी तपस्या की है इतने दिन फलाहार किया इतने दिन भूखे रहे क्या मुझे कर दो शरणागति का उपदेश तो बाबू तो जाओ अपनी तपस्या कर लो और यहाँ का तो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं कि प्रेम है आपका वो आपके हृदय में रहता होगा जरा बाहर निकलने दीजिए हाँ हाँ है ना हाँ तो वो प्रेम सेवा के रूप में बाहर आता है प्रेम का बाप है विश्वास विश्वास होने पर ही प्रेम होता है यदि पति का पत्नी पर विश्वास नहीं है या पत्नी का पति पर विश्वास नहीं है तो प्रेम टूट जाएगा विश्वास में से निकलता है प्रेम और प्रेम में से निकलती है सेवा कि जैसे इनको खुशी हो ये सुखी हो जैसे इनका हित हो तो वो हम करेंगे विश्वास का बेटा है प्रेम और प्रेम की बेटी है सेवा तो बोले भाई केवल भक्त होने से शरणागत नहीं हो जाता केवल सेवक होने से भी केवल सेवक होने से भी शरणागत नहीं हो जाता आप गीता में पढ़ते होंगे तद विद्युत प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवया आपको यदि जानना है तो तीन गुण धारण कीजिए एक तो विनय चाहिए प्रणिपाते हैं दूसरे परिप्रश्न जिज्ञासा चाहिए और तीसरे सेवा चाहिए बोले उपदेश तो कर देंगे बाबा लेकिन धारण होगा बोले नहीं धारण करने के लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजते उपदेक्ष्यंती ये उपदेष्टा का काम है उपदेशक ने उपदेश दिया और लभते ज्ञानम ये जिज्ञासु का है उसके हृदय में श्रद्धा चाहिए तत्परता चाहिए तत्परता माने जो कुछ बताया गया उसमें निष्ठा बने और संयत इंद्रिया इंद्रियों के साथ बहना नहीं चाहिए इंद्रियों का संयम चाहिए तब ज्ञान का लाभ होता है ज्ञान का उपदेश दूसरी वस्तु है और ज्ञान का लाभ दूसरी वस्तु है उपदेश करता है गुरु और लाभ करता है शिष्य तो प्रणिपात से प्रश्न सही प्रश्न से और सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने उपदेश कर दिया गुरु का काम पूरा हुआ बोले कि शिष्य श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्पर संजत इंद्रिय श्रद्धा चाहिए तत्परता चाहिए इंद्रिय संयम चाहिए एक उसमें शर्त यह है कि न चमाम सूर्य थी एक सज्जन ने गीता पर संस्कृत टीका लिखी है महाराज जगह जगह है ऐसा श्री कृष्ण को लथाड़ा है लथाड़ा हाँ, लखाड़ा है वो ये देखो बेचारे भोले भाले अर्जुन को ले जाकर युद्ध में फटक दिया और लड़ा दिया और उससे परिवार का नाश करा दिया देश का गीता पर लिखी है टीका है? हाँ। और उसमें बीच बीच में श्री कृष्ण के गुणों पर बहुत दोष निकाला है बोला हाँ, महाराज सब कुछ तो ठीक है पर ये राज क्यों कर रही है अरे बाबा आठ बरस नौ बरस की उम्र में राज कर दिया क्या बिगड़ता है और भगवान ने राज कर लिया तो उनकी भगवत्ता में क्या फर्क पड़ा तो अभ्यस अभ्यसूयति माने भगवान के गुणों में दोष निकालना एक सज्जन थे हो बहुत मशहूर थे आप लोग नाम तो जानते हैं पर हम बताएंगे नहीं तो वो कहते थे कि राम और कृष्ण की उपासना ठीक नहीं है क्यों बोलिए दोनों देखने में मनुष्य तरीके लगते हैं और राम तो भला राजकुमार है कुछ सुंदर भी लगते हैं हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बड़े सुंदर लगते हैं और ये कृष्ण तो ग्वाला काला काला है, हैं हाँ। इनकी भाई तो देखने में मनुष्य लगते हैं तो तब बोले भक्ति तो विष्णु की करनी चाहिए क्यों तो वो चार हाथ है ना उनके चतुर्भुज तो सात देवता मालूम पड़ते हैं विष्णु को देख करके तो देवता बुद्धि होती है और राम कृष्ण को देख करके नहीं होती इसलिए उपासना तो नारायण की करनी चाहिए बड़े मशहूर आदमी थे हमारा तो बहुत संग था अब लोग कृष्ण को मनुष्य बना दिया राम को मनुष्य बना दिया तो जब मनुष्य ही मान मनुष्य की ही उपासना करनी है मनुष्य ही मानना है तो आज के किसी मनुष्य की करो ना पांच हजार बरस पहले वाले मनुष्य को क्यों ढूंढते हो माने उसमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए ना और जब भगवान मान लिया तो दोष निकालने का कोई कारण ही नहीं रहता है तो एक तो श्री कृष्ण में दोष बुद्धि ना हो दूसरे का अपनी तपस्या का अभिमान ना हो और तीसरे का आत्मनिष्ठ भक्ति हो भगवनिष्ठ भगवत विषयक आत्माश्रय अपने में भगवान के लिए भक्ति हो और सेवा हो सेवा जा भेसा मारा साई दीधे सोई भेज करूंगी अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए जो आवश्यक हो सो हम करेंगे बोले तब शरणागति का उपदेश करना है तो यहां हमको ये कहना कि अनभ्य सूया में तो है समता तो तपस्या से अलग है शरणागति भक्ति से भी अलग है शरणागति सेवा से भी अलग है शरणागति और अनभ्य सूया समता किसी में दोष नहीं देखना इस समत्व स्थिति से भी जुदा है शरणागति इन चारों से अलग है हम शरणागति को अलग बताना चाहते हैं हम व्याख्या तो पर के लिए ही करते हैं और शुरू के दिन ही सर्वधर्मान की व्याख्या शुरू की थी भूमिका में सर्वदूर्यतम हुए शरण में परम बचा है अब यहां देखो एक ही प्रसंग में सर्व सर्वधर्म परित्याग सर्व पाप विनिर्मुक्ति सर्व सर्व हो तीन बार है सर्वपूज्यतम भूय कृण में सर्वधर्मान परित्यज्य और सर्व पापे भ्या सारा सारा सबसे सबसे छुटकारा लो सबसे बढ़िया सब धर्मों का परित्याग करके सब पापों से छूट जाओ ऐसी शरणागति ऐसी शरणागति तो आओ सर्वधर्म की व्याख्या बताते हैं संस्कृत भाषा में धर्म शब्द का अर्थ जीव भी होता है और ईश्वर भी कार्योपाधिक भी होता है और कारणोपाधिक भी होता है इसी से अपने आप जो लोग संस्कृत पढ़ के उनका अनुवाद करने लगते हैं या शब्द के बदले शब्द रख देते हैं या अपने आप पुस्तकों को बांचने लगते हैं वे असली अर्थ जो संस्कृत का है उसको नहीं समझ पाते वैसे अनुवाद से प्रचार बहुत होता है परंतु मूल संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद होना संभव नहीं है एक धर्म शब्द ही है